वो अपने उस परवरदिगार से डरते हैं जो उनके ऊपर है और वही काम करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है